ज्ञान कठिन है तथापि जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष हैं वो जैसे माटी जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म रस निकाल लेते हैं ऐसे इसी संसार में से परमात्मा को ढूंढ निकालते हैं निचार्यपन मृत्यु मुखा निचार निचार्यपन मृत्यु मुखा प्रमुख पहले अर्जुन ने बताया प्रार्थना को गिरजुन शंकराचार्य भगवान ने गिरजुन बताया दुर्गम पथस्थ बदन के नील में दुर्गम पड़े ये बताते हैं कि आत्मा अति सूक्ष्म है पहले भूमिका लाभ से इस बात को समझाते हैं पहले तो समझो कि ये धरती है इस धरती में गंध है नाक से पकड़ में आता है रस है जीव से पकड़ में आता है रूख है आंख से देखने में आता है स्पर्श है छोटा से मालूम पड़ता है और शब्द है कान से मालूम पड़ता है तो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों से पांच गुण वाली ये पृथ्वी मालूम पड़ती है और यदि विचार करके देखो कि जैसी पृथ्वी वैसा शरीर शरीर भी ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस तो ये सात शक्तियों वाली वस्तु है शरीर में पांच गुण के भी है अब ये भी देखने में आता है कि पृथ्वी में तो पांचों हैं परंतु जल में गंध नहीं है फिर अग्नि में गंध और रस दोनों नहीं है और वायु में गंध रस रूप तीनों नहीं है और आकाश में गंध रस रूप स्पर्श चारों नहीं है कहते हैं कि ये शरीर के पंचभूतों से बना हुआ है और व्यक्ति समस्ती दोनों शब्द सर्प रूप रस गंध वाले हैं और इनके ज्ञान के लिए जो औजार हैं अपने पास जो करण है ये भी पांच है कल आपके शीशे का दृष्टांत भी करके बताया था कि जब आप अपने को देखना चाहते हैं तो खुद देखने वाला और खुद देखा जाने वाला ऐसा नहीं हो सकता इसको कर्तरी कर्म विरोध कहते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा जैसे कोई आदमी है कि हम अपने कंधे पर चढ़ बैठे एक ही आदमी चढ़ने वाला और चढ़ा जाने वाला दोनों जैसे नहीं हो सकता वैसे एक ही वस्तु जाने भी और जानी भी जाए जो ज्ञाता हो फिर जो हो जो करता हो फिर कर्म हो जो भोगता हो फिर भोग्य हो ऐसा नहीं हो सकता इसको करते कर्म विरोध बोलते हैं तो हम अपने आप को ऐसे को देख ही नहीं सकते तो कैसे देख सकते हैं अपने को तो वृत्ति रूप दर्पण में प्रतिबिंबित जो अपना आता है उसको देख करके अपने बारे में साक्षात अपरोक्ष निश्चय कर सकते हैं कि मैं ऐसा हूं तो अब ये हुआ कि देखो हमें तो गंध आती है संसार में कि है गंध तब आती है जब तुम नाक में उतरते हो तो कोई प्रणाली में उतरे तो गंध आएगी तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गंध का ग्रहण होता है और गंध वाली जो पृथ्वी है और गंध को ग्रहण करने वाली जो इंद्रिय गंध रूप गुण गंध का आश्रय पृथ्वी और गंध के ग्रहण करने वाली इंद्रिय ये तीनों शीशे में है देखने वाले में नहीं है तो न तुम न गंध हो न गंध के आश्रय पृथ्वी हो और न तो नासिका की उपाधि से आघ्राण करने वाले घ्राता हो ये त्रिपुटी हुई घ्राता घ्राण और गन ये त्रिपुटी हुई और तब आश्रय हित द्रव्य जो पृथ्वी है ये सत्ता के अतिरिक्त और कुछ रही नहीं भी त्रिपुटी मिथ्या हो गई ना तो जिस पृथ्वी में ये तीनों भाग रहे हैं जिस पृथ्वी के संबंध से ये अनात्मा है और अपने स्वरूप में केवल प्रतीत होती है वस्तुता नहीं है इसी प्रकार रसना से रस का ज्ञान होता है आप जानते हो हिंदू धर्म शास्त्र में वेद में पुराण में विषय पांच माने हुए हैं और उनके ग्रहण करने की इंद्रियां भी पांच मानी हुई हैं और उन विषयों के रूप द्रव्य भी पांच माने हुए हैं तो जिहवा से रस का ज्ञान होता है और रस जिस धातु में रहता है उसका नाम जल है और जिह्वा से जो रस लेता है उसका नाम रसईता है तो रसईता बीज रस और रस का आश्रय भी द्रव्य अब देखो इसमें आप इसमें शीशे में ही जल है जल शीशे में है अंतकरण में है और इसमें रस का जो गुण है से भी शीशे में है और इसमें जो घ्राण इंद्रिय है से भी शीशे में है जो रचना जो इंद्रिय है वो भी शीशे में है और इस रचना के संबंध से जो हम रचयिता बने हुए हैं है ना जो संबंध से रचयिता बने हुए हैं है तो ज्ञान स्वरूप लेकिन घ्राण के संबंध से घ्राता बन गए और रचना के संबंध से रचयिता बन गए इसी प्रकार रीत रीत का आश्रय से रीत की ग्रहण करने वाली इंद्रिया और आंख के संबंध से हम दस्ता बन गए तो असल में जिस शीशे में हम दिखाई दे रहे हैं मानो जिस व्यक्तित्व में हमारी छाया हमारा प्रतिबिंब मालूम पड़ रहा है इसके गुण धर्म के विदा करके यदि हम अपने आप की चर्चा में कि न तो हम गंध लेने वाले घराता हैं और न तो रस लेने वाले रसोईता हैं और न तो रूप देखने वाले दृष्टा हैं और न तो स्पर्श करने वाले प्रष्टा हैं क्योंकि स्पर्श रूप जो वायु द्रव्य के आश्रय से रहता है और कृपा से उसका ज्ञान होता है और जब हम ये शीशे के भीतर रहने वाली जो त्वचा इंद्रिय है अंतकरण तो रूप दर्पण में जो त्वचा इंद्रिय है इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तब हम त्वचा होते हैं इसी प्रकार शब्द शब्द का आश्रय द्रव्य आकाश और शब्द के सुनने वाला श्रोत्र का जब हम कान वाले बनते हैं तब श्रेता बनते हैं तो असल में हम क्या हैं श्रेता है कि सृष्टा है कि दृष्टा है, कि रचयिता है कि घराता है अब विचार करके देखो नारायण तो हम पास कह नहीं सकते तो पांच गुण है पांच द्रव्य है पांच इंद्रिया है हम तो पांच है नहीं हम तो एक है तो हम जब जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय को अपना विषय बनाते हैं ग्रहण करते हैं है ना वो द्रव्य हमको दिखाई पड़ता है असल में हमारे अंदर न द्रव्य है और न विषय है और न तो इंद्रिय है हम तो ज्ञान मात्र हैं हम केवल ज्ञान मात्र हैं ज्ञान में ये विशेष आकार है कि हम सुनने वाले हम स्वाद लेने वाले हम रूप देखने वाले हम स्पर्श करने वाले हम शब्द श्रवण करने वाले ये जो विशेष आकार है ये तो इंद्रिय के संबंध से है और इंद्रिय के सूचा है इंद्रिय के बिंद थोड़ी है ना इन इंद्रियों से वो शीशा है जिनमें मुझ ज्ञान स्वरूप बिंब का प्रतिबिंब कर रहा है तो जब तुमने विवेक करना है तो मैं प्रतिव्यादि भूतों से अलग हूँ गंधादि गुणों से अलग हूँ और घ्राण आदि इंद्रियों से अलग हूँ इस प्रकार विवेक करके विवेक करके अपने को जानना पड़ेगा इसको आंख बंद करके ध्यान करना नहीं है ये ध्येय नहीं है बोला ये ध्यान नहीं है ये ज्ञान है तो इसी बात को समझाने के लिए अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम ये जो पांच गुण हैं इनमें तारतम्य भी देखने में आता है और रस में गंध गुण नहीं है और अग्नि तेज में रस और गंध नहीं है ये सब बात आपको सुनाई इस प्रकार ये अंतकरण में जो शब्दाकार वृत्ति है स्पर्शाकार वृत्ति है रूपाकार वृत्ति है रसाकार वृत्ति है गंधाकार वृत्ति है ये अंतकरण की वृत्ति है अपने ज्ञान स्वरूप में है ज्ञान स्वरूप इनसे न्यारा है अच्छा ये जो न्यारा ज्ञान स्वरूप है ये कैसा बोले अशब्दान शब्द माने शब्द गुण और आकाश द्रव्य और श्रोत्र इंद्र इन तीनों से रहित है अपना आत्मा ये बात अशब्दम कैसे बताई गई अस्पर्शम केवल कठोर स्पर्श इनका आश्रयभूत द्रव्य वायु और इसको ग्रहण करने वाली त्वचा इन तीनों से मुक्त है आत्मा और ये रूप गुण रूपाश्रय द्रव्य तेल और उससे ग्रहण करने वाली आंख और शरीर हो शरीर को पंचभूत में जेल इनसे न्यारा है अपना आत्मा और असम रस रस रस रसाश्रय द्रव्य जल और रस को ग्रहण करने वाली रचना इनसे विलक्षण है आत्मा अगंधवत्व है ना अगंधवत माने नाक और नाक के ग्रहण किया जाने वाला गुणगंध और आश्रय भूता तो पृथ्वी गुणाश्रय पृथ्वी इन तीनों से विलक्षण है आत्मा अब बताते हैं रूप क्या बताते हैं अव्ययम नित्याम अब इसी में शब्द को पकड़ो अशब्द मत्कर्ष मरीकम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवत्ययत ये आत्मदेव कैसे हैं बोले तो अव्यय है नेति विपरीत भावम न प्राप्त होती न विकल बेटी इत्यर्थ अ माने नहीं और बी माने विपर्जय और ए सी माने प्राप्ति अव्यय जो विपर्जय को कभी प्राप्त न हो उसको अव्यय कहते हैं जैसा है वैसे ही रहे कोई परिणाम न हो ये शरीर जन्मे चाहे मरे उज्जवल करते हो चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो ये जो करते हो कर्म हो चाहे न हो ये ज्यो करते हो भोग मिले कि न मिले ये ज्यो करते हो इसी से इसको अव्यय कहते हैं जब भी मत तब्जे की जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध होते हैं इसका व्यय होता है इदम तू विमत्रा अव्ययम देखो शब्द जल बदल जाता है स्पर्श बदल जाता है रूप बदल जाता है रस बदल जाता है गंध बदल जाता है लेकिन अपना आपा नहीं बदलता जो भोजन के समय रस बदलते हैं कि नहीं एक बार बेल खाया तो मीठा एक बार चटनी खाई तो खट्टी एक बार दाल खाई तो नमकीन रस के तो बदल गए और तुम ये कहो कि तुम भी बदल गए तो नहीं भाई इमली का दूधा खट्टा था गिर मीठा था दाल में साबर नमक पड़ा था तो ठीक है ये बदलते गए हो तुम तो नहीं बदले ऐसा भी है जीव पर खट्टा स्वाद लेने वाला छेद जुदा मीठा स्वाद लेने वाला छेद जुदा नमक का स्वाद लेने वाला छेद जुदा जुबा में छेद होते हैं हो छिद्र हो गए छिद्र ये कहीं जैसा छिद्रवती होकर के रस को ग्रहण करती है जीव भी न्यारी न्यारी रहा लेकिन तुम एक ही हो जिसको ज्ञान हुआ ये भोग माने क्या मालूम करना भोग मालूम करने तो के सिवा और कुछ नहीं होता एक आदमी के मुंह में हलवा ठोको एक आदमी के मुंह में हलवा ठोको और फिर उसको चटनी खिलाओ और मालूम न पड़े तो उसको क्या मजा आया हलवा हलवा में मालूम पड़े और चटनी चटनी में मालूम पड़े तो खाने वाले को कोई मजा आया असल में मालूम करने मजा है मालूम पड़ने के सिवा और कुछ मजा नहीं है ज्ञान ही भोग है ये भी तुमको ये ज्ञान हो कि संपूर्ण जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय के अधिष्ठान स्वयं प्रकाश भाषक परमात्मा के साथ में एक ये ज्ञान तुमको हो जाए है ना तो क्या होगा सब सुख सब स्वाद सब ज्ञान सब सत्ता एक साथ मिल गई क्या बाकी रहा इसके प्राप्त हो जाने के बाद कोई भी वस्तु प्राप्त अप्राप्त नहीं रहती है सब अपना आता है अज्ञान नित्यान नित्य दुनिया में लोग कहते चले उस समय मजा आ जाए बाद में आए कि नहीं आवे बड़े मतलब विचार दृष्टि को छोड़ दिया ये धर्म जो था ना ये हमारे जीवन में एक शाश्वत दृष्टि ले आता था भाई हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे इस लोक में भी सुख हो और परलोक में भी सुख हो ये शाश्वत दृष्टि का प्रारंभ हुआ है जीवन में धर्म पर विश्वास होने से परंतु बोले अरे कर लो है कि नहीं कौन जानता है बोले फिर कल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है कौन जानता कल क्या होगा कल का ये झमेला है चाहे इस समय तो नोट पकड़ के रख ले सरकार पकड़ेगी तब देखा जाएगा बेईमानी करने वाले उसे सोचते हो कि आज तो आज तो बेईमानी करके रख लो कल सरकार पकड़ेगी तो देखा जाएगा सवेरे तो नरक में जाओगी तो उसने देखा है नरक तो ये मनुष्य की दृष्टि में से जब से शाश्वत भाव निकल गया नित्य भाव निकल गया तब से वो अपने पांव के नीचे गिरने वाला हो गया आगे की कुछ देखा ही नहीं आगे की कुछ सुधे ही नहीं तो देखो धर्म से परलोक बनता है लोग परलोक देने बनते ये अच्छा हो और उपासना से इष्टदेव की प्राप्ति होती हमारा प्यारा मिलता है और योग से हम आत्मनिष्ठ होते हैं और तत्व ज्ञान से सब झगड़े खत्म हो जाते हैं न इसमें धर्म क्रिया करनी है न इष्टदेव पूजा को चिपकना है, और न आंख कान दूध के समाधि में बैठना है ये तो खुले आंख परमात्म देखू ये खुली आंख से परमार्थ निहारने का अभी अभी नित्यम नित्यम का अर्थ ये होता है जो कल पिछले कल भी रहा हो और आज भी हो और अगले कल ही हो जो छूटे नहीं उसको नित्य कहते हैं तो इसमें एक परिवर्तनशील नित्य होता है और एक कूटस्थ नित्य होता है तो आत्मा जो है ये कूटस्थ नित्य है कूटस्थ कोई भी बोलगा हमारा आत्मा तो बदल गया एक बार चीटी बना तो एक बार हाथी बना एक बार छोटा हुआ एक बार बड़ा हुआ ये आत्मा नहीं बदलता वो ये तो जैसे जाड़े के दिनों में बड़ा कोट बने वाले तो नहीं ना और गर्मी के दिनों में हल्का फुल्का कोट रखते हैं ऐसे ये हाथी का शरीर और चीटी का शरीर ये तो पोशाक है खड़ी भारी की साड़ी पहन लो ये क्या पहनते हैं जो बड़ा होता है ये जो पहनती है खड़ी भारी का पहन लो तो लंबी लगो और गोल भारी का पहन लो तो नापी लगो लंबी स्त्री गोल भारी की पहनती है तो क्या लंबी हो जाती है क्या वो हो जाती है कभी लगने लगती है तो आत्मा चीटी नहीं हो जाता चीटी तरीका लगने लगता है आत्मा हाथी नहीं हो जाता हाथी तरीका लगने लगता है ये दृश्य है दृश्य में और भव्य में फर्क होता है है ना ये जो धू धातु से बनता है तो भव्य होता है और जो दृश्य धातु से बनता है तो दृश्य होता है समझना अलग चीज है और मालूम करना अलग चीज है होना और मालूम करना एक नहीं है देखो चंद्रमा है तो बड़ा भारी लेकिन दिखता है जिसके भर सूर्य का होना कितना बड़ा है पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है सूर्य लेकिन दिखता है हाथ बढ़ता तो जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती है ये तो जरूरी नहीं है तो आत्मा का स्वरूप जो है वो ज्ञान है प्रपंच इसको भाषता है प्रपंच इससे बनता नहीं है बनना दूसरी चीज है और भाषना दूसरी चीज है तो ये उत्पत्ति सृष्टि स्थिति लय का जो विवेक करते हैं ना कार्य वो तो जो बना उसका विवेक है वेदांत में बना उसका विवेक नहीं है कार्यकारों का विवेक नहीं है जो दिखता है उसका विवेक है दृश्य का विवेक है ये वेदांत लोग जो है ना वर्षों तक पढ़ते रहने पर भी वेदांत को ये भेद नहीं समझते हैं कि वेदांत में प्रपंच को सृष्टि को कार्य नहीं बोला जाता दृश्य बोला जाता है दृश्य होना माने दृष्टा की दृष्टि का विलास होना और कार्य होना माने किसी कारण से उत्पन्न होना तो स्वप्न जो है वो कार्य नहीं है दृश्य है रज्जू सर्प जो है वो कार्य नहीं है रज्जू रज्जु का साधान से जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो दृश्य है शीत में जो चांदी है वो कार्य नहीं है दृश्य है आकाश में जो नीलिमा है वो कार्य नहीं है दृश्य है इसी से कार्य कारण भाव मिथ्या है और दृश्य दृष्टा भाव का जब विवेक करते हैं तो दृश्य है ये आवश्यक नहीं है दृष्टा तो है भी और देखता भी है परंतु दृश्य है और दिखता है ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए दृश्य जो है वो बिना भूल भागता है किसमें अखंड में अविनाशी में परिपूर्ण में अद्वितीय में अनंत में दूसरे के लिए कोई अवकाश नहीं कोई मौका नहीं अच्छा ब्रह्म परमात्मा में ये अगर दृश्य हो ये प्रपंच अगर हो तो पूछो कि अनंत ब्रह्म के किस हिस्से में यह प्रपंच है कोई गणितज्ञ आके बता दे आइंस्टीन से पूछ लो ये तो आकाश की गणित का नियम है ब्रह्म में जब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पित है तो इसमें बाहर भीतर कल्पित है तो प्रपंच यदि होगा तो ब्रह्म के किसी कल्पित अंश में ही तो होगा ना तो हमारे देहाभिमान के कारण वो है ऐसा भाजपा है और देहाभिमान छोड़ देने पर छूट जाने पर अहम ब्रह्म जन्म हो जाने पर प्रपंच हमारे किस कोने में रहेगा अच्छा ब्रह्म उसको कहते हैं जो काल परिच्छिन्न न हो अविनाशी तो ब्रह्म की उम्र के किस हिस्से में एक क्षण में ब्रह्म के एक क्षण में ये प्रपंच है ब्रह्म में अगर क्षण हो गए तो ब्रह्म भी मर जाएगा ब्रह्म में तो भूत भविष्य वर्तमान कल्पित है इसमें कल्पित क्षण में ये प्रपंच है कल्पित देश में होने से प्रपंच कल्पित है कल्पित काल में होने से प्रपंच कल्पित है ऐसा ब्रह्म के वजन का कौन सा हिस्सा है ये प्रपंच तो ब्रह्म के कल्पित वजन में प्रपंच कल्पित है इसका मतलब हुआ कि ब्रह्म ज्ञान से जब कल्पना निवृत्त हो जाती है तो प्रपंच का समय प्रपंच का स्थान और प्रपंच की वस्तुता तीनों कट जाती है बोले दृश्य है कहाँ दृश्य है चलो क्या रहे बोले दृश्य भी कहाँ है तो बोले ब्रह्म में अनिर्वचनीय देश में अनिर्वचनीय काल में अनिर्वचनीय रूप में ये दृश्य है ये बात क्यों कही जाती है क्योंकि गुरु जीरा दोनों बाहर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं जब बातचीत कर रहे हैं तो जैसे कल्पित गुरु कल्पित चेले से बात कर रहा है जैसे ब्रह्म में कल्पित प्रपंच दिखाई पड़ रहा है बोले नहीं नहीं ना हम चेला न तुम गुरु बोले कि तो तब तुम सरपंच भी नहीं अगर गुरु चेला सिद्ध करोगे वो तो अनुर्वचनीय प्रपंच सिद्ध होगा और गुरु चेला सिद्ध नहीं करोगे तो अनुर्वचनीय प्रपंच भी सिद्ध नहीं होगा ब्रह्म दृष्टि से प्रपंच है ही नहीं और गुरु चेले की दृष्टि से प्रपंच ब्रह्म में अनुर्वचनीय है ज्ञानी की दृष्टि से सत है विवेकी की दृष्टि से असत है गुरु शिष्य की दृष्टि से अनिर्वचनीय है और हमारी दृष्टि से हम ही है हम हाँ, ही है ये ये हम गुरु चेला नहीं है बोला चेले हाँ, का बनाया हुआ गुरु हाँ, दो कौड़ी का हुआ और गुरु का बनाया हुआ चेला ये बने बनाए गए किस काम के चीला बने गुरु बने है ना तो ब्रह्म ये ब्रह्म दृष्टि जो है बड़ी विलक्षण तो नित्य का अर्थ है कूटस्थ नित्य है कूटस्थ नित्य जो अपने स्वरूप का परित्याग कभी नहीं करता ये क्यों कूटस्थ नित्य है <clears throat> जो वस्तु आदिवादी होती है वो अपने कारण में लीन होती है जब जब भी आदिमत भवती तब तक कार्यत्वात अनुत्यम कारणे प्रविलीयते अनाद्यनन्तम् महतः परम् ध्रुवम् निचाद्यतम् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते अनाद्यनन्तम् महत परम ध्रुवम अनादि गीता में है अनादिमत परम ब्रह्म न सत तो सुरक्षित है अनादि क्योंकि जो जो वस्तु आदि वाली होती है उसका कारण होता है कारण से जो कार्य के रूप में पैदा हुई सुई तो आदि हुई ना आदि आदि माने शुरुआत एक दिन किसी मिनट में किसी सेकंड में किसी जगह पर कोई चीज पैदा हुई सबने उसकी आदि है तो पैदा होने के पहले वो कहा थी कि कारण में थी तो जब वो चीज मिटेगी तो कहा जाएगी तो कारण में जाएगी तब तब तो आदि जो है वो पहले नहीं था आदि अंत में नहीं रहेगा बीच में जो आदि दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है तो उस आदि से विलक्षण है परमात्मा का स्वरूप अनादि अनंतम अनंत है जैसे भ्रम मिट्टी में लीन हो जाता है वैसे ये प्रपंच जो है वो परमात्मा में लीन नहीं होता परमात्मा जो है है ना वो कोई कारण कार्य में नहीं है अनादि है और अनंत है अनंत है मान जिसका अंत अंत मान कार्य ये बड़ी विलक्षण बात है अंत मान कार्य एक केले का पेड़ लगाया और केले का पेड़ लगाया बड़े तरह से कहा से उसकी कुट्टी लेके आए धरती में डाला उसको सींचा बड़ा किया अब कदली में लग गया फल केला जो न रहे अकेला केले का फल अकेला नहीं होता नहीं अकेला से तो जो एक फल लगे और सब और सब वृक्षों में जो फल लगते हैं अकेले अकेले लगते हैं आम अकेला कटहल अकेला अमरूद अकेला और ये अकेला नहीं होता इसलिए इसको अकेला बोलता है ये जो अकेले में लग गई धार फल आ गए अब फल निकलने के बाद केले का पेड़ जो है खत्म हो गया हाँ, खत्म हो गया माने जब कारण से कार्य की उत्पत्ति हो जाती है तो उसका अंत निकल जाता है ब्रह्म से भी यदि प्रपंच रूप कार्य हो जाए केले की धार लग जाए तो ब्रह्म कैसे रहेगा ब्रह्म की ब्रह्मता इसीलिए है कि ब्रह्म का कोई माई बाप नहीं है माई बाप से पैदा होगा तो पहले नहीं होगा और ये भी नहीं है कि बेटा पैदा करके और उसको उत्तराधिकारी बनाते कि बेटा आपकी मालिक है और ब्रह्म तपस्या करने चला जाए हम्म? या मर जाए कि संसार में तो यही है ना जब बेटा हो गया भाई छोड़ छोड़ो संभालो तो अनंतम संसार से कार्य रहता ब्रह्म के न कोई मां बाप है न बेटा बेटी है न भाई बंधु है न पति पत्नी है न शत्रु मित्र है ये अनादि है अनंत है महत परम ध्रुवम् और ये जो महत तत्व है ना महत सबसे महाभान कौन है आप विचार करके देखोगे सबसे महान बुद्धि है संसार में बुद्धि से बढ़ करके और कोई चीज नहीं है बोले नहीं जी हमारी बुद्धि से बड़े तो हमारे गुरु जी हैं बोले ठीक है पर ये भी तुम्हारी बुद्धि है तुम इतने बुद्धिमान हो कि कैसा छाप के तो गुरु जी को बनाया लाखों में एक है और फिर कहते हो कि हमारी पसंद देखो कितनी अच्छी है तो तुम अपनी बुद्धि की तारीफ करते हो कि गुरु जी की तारीफ करते हो कितने बुद्धिमान हो तुम कि तो तुमने ऐसा गुरु बनाया तो तो गुरु की हो गई ना गुरु तो की नहीं हुई बुद्धि की हो गई तारीख तो बुद्धि की विकास से बड़े बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि कैसी बोले हम ईश्वर के बारे में जानते हैं बिल्कुल ठीक थी तो अच्छा, कभी हम बिल्कुल जानते हैं एक दो हाथ वाले श्री कृष्ण ही परमेश्वर है बोले नाना चार हाथ वाले नारायण है बोले नारायण क्या में क्या रखा है कृष्ण कैसे बने तो बोले नारायण से कृष्ण को बड़ा मानने में किसने तुम्हें सलाह दी तो बोले बुद्धि ने हमारी बुद्धि ने अरे कृष्ण ने क्या ग्वालिया गाय करावे इधर उधर हाँ, दो हाथ का मनुष्य हम तो चार हाथ के नारायण श्रेष्ठ हम तो मानते हैं कैसा अच्छा, उनको मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी हाँ, अरे हमने निर्णय कर लिया है क्या का ईश्वर है कैसे निर्णय किया जाए कि बुद्धि से ईश्वर को संदेह करके बना ईश्वर को अपनी बुद्धि के सामने दिला के कटघरे में खड़ा करके है ना एक कटघरे में तुम खड़े हुए ईश्वर है कि नहीं है दूसरे कटगरे ने ईश्वर को खड़ा किया ईश्वर है और जज अपनी बुद्धि को जज बनाया कुर्सी पर बैठा और उससे निर्णय करवाया ईश्वर है देखो ना सबसे बड़ी कौन ईश्वर का निर्णय करो गुरु की योग्यता बताओ तो मेरे भाई गुरु जी को अब नहीं आता बस जो प्रश्न मैं करता हूं उसका जवाब गुरु दीक्षित नहीं देते हैं वो छोड़े उनको गुरु को भी छुड़ा दे है ना इष्ट देवता को भी छुड़ा दे तो गलती हुई हमसे अरे हमने तो साकार को मान लिया ईश्वर को तो निराकार है कौन बताता है विद्युत को बताते हैं तुम अपनी बुद्धि की बात मान करके साकार को छोड़ के निराकार को भजते हो या निराकार को छोड़ करके साकार को भजते हो ये कौन सलाह देता है ये बुद्धि देती है इसी से बुद्धि के लिए महत् शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे जीवन में हमारे अंतकरण में एक महत्पुरुष हो महत्पुरुष में ये महती स्त्री बैठी हुई है गुरु की योग्यता का को नापने तो वाली तैरने वाली ईश्वर के अस्तित्व को तैरने वाली बड़े बड़ों को तैर लेने वाली ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड बंद को तैरने वाली बुद्धि बैठी बोले सब तो ठीक है महाराज पर ये बुद्धि महारानी जो है ना माप माप तत्व दृष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि उनसे भी परे एक है तो वो कौन है तो माता परम देश बुद्धि का प्रकाशक है जिसके सामने ये बुद्धि जागती है जिसके सामने ये बुद्धि सोती है जिसके सामने ये कभी आस्तिक बनती है कभी नास्तिक है ये बुद्धि आस्तिक को जाती दोनों बुद्धियों को जानते हो तुम कि नहीं एक दिन तुम्हारी बुद्धि कह रही थी कि पता नहीं गई ईश्वर है कि नहीं है तो बुद्धि की बात तुमने सुनी थी कि नहीं सुनी थी एक दिन उसने कहा क्या शंका करते हो ईश्वर तो है ही है बिल्कुल है वो बात भी तुमने सुनी थी कि नहीं सुनी थी ये जो बहुरूपिया बुद्धि है, है? हाँ, इससे बड़ा तो जिसके सामने ये नाचती है गाती है कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती है कभी सूती है कभी समाधि में जाती है कभी शांति में जाती है कभी विक्षेप में जाती है इस बुद्धि का जो साक्षी है आपके ख्याल है कि कितनी बड़ी होगी बुद्धि और आप कितने बड़े हैं आप नाच के देखो कब मालूम करोगे आपकी बुद्धि की उम्र इतनी है कि उसमें भूत भविष्य वर्तमान रूप काल समा जाता है ये काल है ये कौन निश्चय करता है काल है और काल का क्या स्वरूप है और काल के क्या भेद है क्या है कौन निश्चय करता है बुद्धि निश्चय करती है देश का निश्चय कौन करता है तो बुद्धि तो ये देश से भी विशाल है और काल की अपेक्षा भी लंबी उम्र वाली है और ये पंचभूतों की भी जननी है ये जो सबसे लंबी चौड़ी सबसे बुढ़िया और मुख्य नूतन जवान सबसे पुरानी और सबसे जवान और नए नए श्रृंगार के अपने को मिनट मिनट पर सुधारने वाली ये जो देशक व्यापनी कालक व्यापनी द्रव्य व्यापनी जो बुद्धि है उसके कुल साक्षी है मन वो तो अपने पेट में देश काल व्यक्ति को लेकर के बैठती है और तुम उसके साक्षी हो देश काल व्यक्ति तुमको छू नहीं सकते ऐसे हो तुम और प्रोग्राम कभी बदलने वाले नहीं माता परम विलक्षणम नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण सर्व साक्षी होने के कारण क्योंकि सर्वभूता आत्मा हो तुम एक सर्वेश जीते सुजीत रूप मानव प्रकाश के ये रात कहीं आए मेरे देखो तो आओ इसी को निचोड़ो निचाज्य जैसे कपड़ा जब पानी में डूब जाता है ना तो कपड़े में जो पानी होता है वो आपको नहीं दिखता है और निचोड़ो उसको तो हर हर हर उसमें से पानी निकलता है और पानी में सोने का कर्म मिल जाता है तो देखने से मालूम नहीं करता कि इसमें सोने का काम है परंतु उसको जब पानी डालते हैं उस पर तो बालू बहने लगता है सोने का कण स्थिर रहता है सोना भारी होता है और बालू हल्का होता है तो, तो हमने देखा कहीं तो हाँ। एक हिमालय में एक झरना आता है किसी पहाड़ी में से तो मैंने देखा दसवीं बीसवीं स्त्रियां लगी हुई थी और वो है ना बालू सूप में लेके बालू छोड़ रही वो रही पानी डाल रही और ये क्या करती हुई कि उसमें से सोने का खाना निकाल रही है और उस झरने के भीतर कहीं सोना होगा उद्गम स्थान पर वहां से बैठ जाता है तो बालू के कण में से सोना निकाल लेना स्वर्णम यथा ग्रावस भी बखा रहा श्रीमद भागवत में ये दृष्टांत दिया हुआ है तो निचार्य ये अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष विवेक की दृष्टि से इनको निचोड़ो तो इसमें तुम निकलोगे ये नहीं निकलेंगे इसमें तुम भरे हुए हो जागृत स्वप्न सुशुक्ति में तुम भरे हुए हो विश्व तेजस प्राग में तुम भरे हुए हो ध्याता ध्यान भेद में तुम भरे हुए हो ज्ञाता ज्ञान भेद में तुम भरे हुए हो जरा एक बार गौर को तो करो अगर तुम में हो गए हो तो सृष्टि मालूम किसको पड़े भगवान भी मालूम करते है किसको तो तुम्हें को मालूम पड़ता है भगवान हाँ। तुम्हारे सामने भगवान आप भगवान चले गए हाँ। दो मिनट के लिए आए दर्शन देखे चले गए अब रहा क्या कुछ तुम्हें तो तुम तो रहे ना उनके लिए रोना लेते रहो कि हाय हाय चले गए या उनके लिए हंसना लेते रहो वही भगवान ने उनको दर्शन दिया तो विचार जैसे चाय का पत्ता तोड़ते हैं पेड़ों में से है ना विचार चाहिए है ना चाहिए के चाया वो चुन लो चुन लो ये सारी सृष्टि के एक एक कर्म से उसको चुन लो गुरु बाबा पड़े इस झगड़े में हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे अभी ईश्वर को तो चुनने कौन जाए इससे कोई फायदा हो आपके लोग कहना तो फायदा फायदा सोचते हैं फायदा चाहिए तो लड्डू मिलेगा खाने को हमारे एक मित्र थे तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे भगवान का नाम ले तो बच्चे पूछते कि भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है तो अब उनको समझाओ कि नरक में नहीं जाओगे तो क्या समझो रहे छोटे छोटे स्वर्ग मिलेगा तो बोले अभी स्वर्ग की क्या जरूरत है बोले कि खुद बुद्धि बढ़ जाएगी पढ़ाई होगी तो आजकल के बच्चे भी तो बड़े होशियार हैं उनको तो पेट में किताबें देख रहे हैं वो जो हमारे साथी सब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो तो भगवान का नाम नहीं लेते लेकिन बड़े तेज हैं उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है तो उन्होंने कहा कि देखो एक नाला तुम खेलो तो चार आना पैसा मिलेगा उल्हा आप करेंगे चारा ना पैसा मिले तो तुरंत माला पेट में चला दी फायदा चाहिए तो ना ये जो लोग लाभ की दृष्टि से प्रेरित होते हैं वो तो माननीय है ना और जो लोग डर से काम करते हैं गंदा लगेगा अरे भाई सत्य को सत्य के लिए जाना जाता है हमारा हृदय सत्य की प्राप्ति के लिए इतना उन्मुख है इतना प्रेम है हमारा सच्चाई से ये दुनिया में लोग देखो कहते तुमने हमसे सच क्यों नहीं कहा झूठ क्यों कहा मर जाते हैं ना लेकिन खुद को सच को जानते ही नहीं है अमृत नहीं प्रत्युभा अमृत नहीं प्रत्युभा ये झूठ से ही तो संचालित हो रहे हैं संसार में जिन स्त्री पुत्रादि के संबंध को वो सच्चा मानते हैं क्या वो सच्चा है झूठा है ये धन दौलत मकान का जो संबंध है वो झूठा है देखो अपनी पार्टी के लिए आदमी मर जाता है लेकिन पार्टी का संबंध का किसी के साथ है वो तुम मर जाओगे तो पार्टी चलती रहेगी तुम चलती रहेगी तुम अपना संबंध पार्टी से मानते हो पार्टी तुम्हारे साथ अपना क्या संबंध मानती हो हम्म। तो बात क्या हुई कि संसार के संबंध सब हैं और तुम अगर सत्य के प्रेमी हो तो पहले सत्य को जान लो क्यों महाशय क्यों लड़ाई कर रहे हो और इस सत्य के लिए हमारा पक्ष सत्य है जरा तुम जरा छाती ठोक के बोलो गंभीरता से दोस्त क्या तुमको ये तुम दावा करते हो कि तुमको सत्य का ज्ञान है जब तुमको सत्य का ज्ञान ही नहीं है तो दूसरे को झूठा कहना और उससे लड़ाई करना ये तो मूर्खता में से निकला ना हाँ? तो असली सत्य का जो ज्ञान हो जाता है तो प्रमाद आलस्य निद्रा राग देश मोह अविद्या जो मृत्यु है ना विद्यामृत वसूत है अमृतन में विद्या अविद्या मृत्यु अमृतन की विद्या जिस अज्ञान में तुम अंधकार में तुम भटक रहे हो ये अविद्या ही मृत्यु है अविद्या ये सत्य है सत्य तो आत्मा है जब तक तुमने सच्चे सत्य को परमात्मा को परमार्थ को नहीं जाना तब तक तुम अपने माने हुए सत्य के लिए कल्पित सत्य के लिए हमारे एक तो बार जन्माष्टमी हुई अपने यहाँ वृंदावन में तो हमारे दो चेले थे दोनों बड़े आजकल तो दोनों ही बड़े हैं आपस में दोनों में लड़ाई हो गई तो एक राम भक्त थे एक कृष्ण भक्त तो कृष्ण भक्त वाले ने कहा कि आज जन्माष्टमी होगी सब लोग जन्माष्टमी रहेंगे कृष्ण की पूजा होगी शाम को जब सजाया गया ना ठाकुर जी को तो राम जी ऊपर पधराए जाए कि कृष्ण ऊपर पधराए जाए इस बात पर लड़ाई हो गई राम भक्त कहते थे कि रामचंद्र बड़े हैं कृष्ण तो छोटे हैं उनको चौरासी पूछ की जागीर दे दी है भगवान रामचंद्र ने अपने राज्य में वो जागीरदार है रामचंद्र सम्राट है चाहे जन्माष्टमी हो चाहे कुछ हो रामचंद्र कर रहे हैं वो बोले कि नहीं भाई भले तुम्हारे सम्राट हो हमारे कृष्ण भगवान की आज जन्माष्टमी है तो आज तो हम उनको ऊपर ही रखेंगे चाहे कुछ हो जाए नीचे तो दोनों हमारे चेले हो हम तो दोनों ने दो कमरे में है ना एक ने राम को एक ने कृष्ण को सजाया दोनों बड़े आदमी उनका दावा था कि राम बड़े हैं और उनका दावा था कि कृष्ण बड़े हैं है ना क्या यथार्थ में राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं कि कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं जो दोनों में एक है उसको जान के तुम लड़ाई कर रहे हो जो दोनों में एक है उसको जान करके तुम लड़ाई कर रहे हो तो ये सचमुच जो युद्ध वैमनस्य है संघर्ष है राजदेश है ये मृत्यु है यदि उस सत्य को पहचान लो सत्यम परम भी नहीं उस पर सत्य को जान लो तो ये जो मृत्यु है ना मोह अविद्या राग देश आलस्य निद्रा प्रमाद ये सब मर जाए केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे केवल स्वातंत्र ही स्वातंत्र मुक्ति ही मुक्ति रहे ओम शांति